आगे बात हाँ बात का लिख लो जितने भी बात के रोग हैं गोदे दुखना कमर दुखना पीठ दुखना संधिवाट होना इसकी सबसे अच्छी औषध है चूने की नेवड़ी चूना दही चूने की नेवड़ी उसमें हाँ दही में चूने की नेवड़ी मिला के खाइए एक कप दही में दो चम्मच सुबह जिनको भी संधिवात है उसमें भी होता है संधिवात में भी होता है ठीक तो गुर्दे जरूर दुखेंगे तभी बाकी सब दुखना चाहिए तो संधिवात है अगर गुर्दे नहीं दुख रहे हैं तो संधिवात नहीं है फिर दूसरा दर्द है वो हम्म। बिना संधिवात के गुर्दे दुखते नहीं सबसे पहले संधिवात में ये टाँच दुखेगी या गुड़गे दुखेंगे और ये चूने की निवड़ी से बहुत अच्छा ठीक होता है क्योंकि कैल्शियम पूर्ति होती है तो दुखना बंद हो जाता है वो भी ऐसे कैल्शियम पूर्ति करो मन का ठीक होगा वो भी ठीक होगा उनके लिए भी यही औषध है हाँ रोज देने का दो तीन महीने इसमें कुछ बुराई नहीं है साइड इफेक्ट नहीं तीन महीने का चार महीने भी हो तो भी चलेगा आधे घंटे बाद या तो भोजन के या आधे घंटे पहले नहीं उनका मत करिए गुर्जे दुख रहे हैं तो ये और एक दूसरी औषध भी है रात को गाय का दूध और तूप कई बार गुर्दे इसलिए दुखते हैं कि हमारे शरीर में लुब्रिकेशन कम हो जाता है जैसे मशीन है ना उसमें ऑयल रहता है ऐसे शरीर में भी ऑयल रहता है मशीन में ऑयल बराबर है तो मशीन बराबर चलती है शरीर में ऑयल बराबर है तो शरीर चलता है अगर ये कम हो गया तो फिर मुर्गे देखते हैं तो वो ऑयल बनाने के लिए गाय का तूप ही है जो वो ऑयल बनाता है दूध में मिला के गाय का सूप रात को देना थोड़ी हड़क भी देना हड़क से भी बहुत पूर्ति होती है तो अगर ऑयल की कमी है तो दूध तूप और हड़क से ठीक हो जाएगा कैल्शियम की कमी है तो चूने की नेवड़ी और दही से ठीक हो जाएगा और ये दोनों ले सकते हैं एक साथ में रात को हड़प दूध तूप और सवेरे निवड़ी चूने की और दही तो फिर वो पता करना पड़ेगा कारण क्या है फिर उसके हिसाब से खोजना पड़ेगा जो कंफर्म है उतना ही आप क्योंकि उसमें क्या है कि बहुत इंक्वायरी लगेगी वो इंक्वायरी है पता नहीं वो दर्द मसल्स का है या बोन्स का है और पता नहीं वो कैसे आया है ज्यादा काम करने से आया या कभी कोई और तकलीफ हुई थी क्या मलेरिया ज्यादा दिन हो जाए तो भी ऐसे ही कमर दर्द आ जाता है ज्यादा दिन बिस्तर पे रहे किसी बीमारी से तो कभी ना कभी ये दर्द आए वो उसमें बहुत सारी इंक्वायरी है तो उसमें मत जाओ जो कंफर्म है परफेक्ट है उतना करो आप अभी थोड़ा करो लेकिन ठीक करो अगर ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशन है तो फिर बताओ आप मुझे या उससे कहो कि किसी होम्योपैथी चिकित्सक को दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है ये ज्यादातर औषध साइड इफेक्ट नहीं करती नाजा को छोड़कर